साधन का कथन कर रहे हैं या पूर्ण तो निरपेक्ष स्वतंत्र साधन कथन उसी ब्रह्म की उसी ब्रह्मानुभूति के प्रति स्वतंत्र साधन कथन कर रहे हैं या ब्रह्म विद्या के लिए सहकारी साधन कथन कर रहे हैं ये जानना भी तो जरूरी है यदि अवधारणा परक है तो फिर सहकारी साधन हो नहीं सकता वो साधनांतर है फिर वो सहकारी साधन नहीं वो अंतर्गम शुद्धि के काम में आने वाला है जो मंदाधिकारी या मध्यमाधिकारी कहेगा महाराज आप ये सगुण उपासना भी मैं नहीं कर पाता हूँ मेरी बुद्धि विद्युत निवा पकड़ नहीं रहा है समझ में नहीं आता बैठता हूँ उनकी दिवस कार्य नहीं समझ में आ रहा है उसके हम कल्पना नहीं कर पा रहे और उसको ब्रह्म के साथ तालाब पे करके वृत्ति हम नहीं बना पा उसके लिए कहीं तो क्या होगा परंपरा ब्रह्म विद्या का साधन हुआ इसलिए ब्रह्म विद्या के साधन का सहकारी साधन भी नहीं है अंतर्गण अंतर्गण शुद्धि का साधन अंतर्गण शुद्धि होगी तब सगुण उपासना करोगे तो फिर निर्गुण ब्रह्मानुभूति इसलिए सगुण उपासना के लिए आवश्यक जो साधन है उन साधनों का ये सहकारी साधन नहीं है सहकारी साधन क्या होता है साथ में समकाल में प्रयोग होना चाहिए क्योंकि ढंग से काम चलेगा नहीं चक्र भी चाहिए सब का निधान माना जाएगा सहकाल में सारे अवस्थित हो और सभी का उपयोग हो रहा है तो क्रमशः उनको हम सहकारी साधन कहेंगे यह तो पूर्वोत्तर काल की चीजें जो ब्रह्म विद्या का साधन बताया गया वो तो ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति के पूर्व क्षण में प्रयोग होगा उससे भी पहले अंतर्गण शुद्धि के लिए तपोतम करने की कहना सहकारी साधन वो नहीं गौण साधन इसी आचार्य जी जो आगे कहने जा रहे हैं उसको पूर्व पक्षी समझे बिना सोच रहा है सहकारी साधन नहीं है यूँ समझ करके वो एक प्रश्न डाल वक्तव्य उचित आचरण बात तो सही है कि आचार्य के तरफ जो वक्तव्य कहा जा रहा है ये तो उत्तो कृषि शीर्षक या लेकिन जो आचार्य कह रहे हैं वो उक्त परिषद का साधन भी नहीं है तब सहकार सावधान द्रव्य प्राण भी न तो अच्छा सावधान है न सहकारी साधन को कह रहे हैं आचार्य कहा जरूर रहे हैं कुछ न कुछ बात आगे कह रहे हैं कि हम भी मानते हैं लेकिन वे जो कह रहे हैं वो उपनिषद शेष भी नहीं उपनिषद के सहकारी साधना अभिप्राय से भी नतु हम ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय भी प्रवीण ब्रह्म विद्या प्राप्ति के अनेक उपायों में से एक उपाय रूप में उसको खत्म कर रहे हैं वेद ही तदंगश्च पाठ क्योंकि वहां पर वेदों को भी लिया वेद के अंगों को भी लिया उनको क्यों ले रहे वेद वेदांगों का क्या मतलब है इसे तो वेद ही तदंगश्च पाठिन समीकरणा समीकरणार्थ करते स्मृत पाठ पहले भी वेदांग का अध्ययन जैसा हुआ करता है उसी के समान ये भी कह दिया तुलना क्यों दिया उसका उसे ज्ञापन करता है साक्षात साधन नहीं सका प्रबंधिष्ट सहपाठेन सका प्रबंधि नाम समीकरणा उस मंत्र में उनको भी पठन किया उसी मंत्र में जिसमें तस्वीर पश्चिम तपोदम इत्यादि आया है उसी मंत्र कह करके साथ पाप करता हुआ तब प्रवृत्तियों को जो है वेद वेदांत के सादृश्यता में ठहराया है जिस प्रकार से नहीं वेदांग साक्षात सरकार का साधन है क्या नहीं अपूर्व कल्याण ने तो कहा वेद वेदांग तो केवल आपको यदि केवल बताती उसके साथ नहीं कर्म स्वरूप वेद वेदांगों ने यज्ञ को बताया और उस यज्ञ को आपने अनुष्ठान किया तब वो साधन बन गया स्वर्ग का यह वेद वेदांग साक्षात स्वर्ग का साधन नहीं यदि यज्ञ का उपयोग करके निवृत्त हो गया काम खत्म हो गया उसका काम उतना ही है यज्ञ और गोल कराना यज्ञ का जो है साध्य साधन और रीति कर्तव्यता जो है पूरा का पूरा गोल करा करके वो ये वेद वेदांग का काम खत्म हो गया उसके बाद उनका कोई लेन देन नहीं है केवल कर्म आपको करेंगे तब ना स्वर्ग मिलेगा पढ़ के जानने से थोड़ा स्वर्ग मिलेगा जैसे आप ही पढ़ लिए मानसा वगैरह जान लिए क्या होता है मान की भाव वगैरह तो आपको सब मिल जाएगा क्या पढ़ने से करोगे तब तो नहीं मिलेगा जानने से क्या मिलेगा आप उसे तो लेके पढ़ लो पुलाव कैसे बनता हलवा कैसे बनता पेट भर जाएगा तो क्या अरे पढ़ लिया आपने जान तो लिया लेकिन करना तो पड़ेगा तब ना फल मिलेगा इसलिए फल तो साक्षात साधन नहीं है ज्ञान और ज्ञान को प्रदान करने वाला जो ग्रंथ देवी वेदांग है तो स्वर्ग का साक्षात साधन नहीं हुआ स्वर्ग परंपरा नहीं यही ज्ञान और क्या यज्ञ का बोध नहीं कराता अब यज्ञ नहीं कर पाते स्वर्ग नहीं मिलता उसी तरह यहाँ पर भी आ आदि यदि आप नहीं करते तो अंतर निश्चित नहीं होता अंदर में नहीं होगा तो सुगुण उपासना ही नहीं होगा ऐश्वर्य प्राप्ति कैसे होगी तो जीवन विद्या का अनुभूति कैसे होगा इसलिए परंपरा जो साधन तो साक्षात साधनों में या सहकारी साधनों में भी नहीं गिना जा सकता नहीं वेदान शिक्षा यंगांच साक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्म पर सहकारी साधक तो स्पष्ट कर दिया जैसे देखो वे शिक्षा आदि जो अंग है चारों वेद हो चाहे शिक्षा आदि अंग हो ये भी देख लो ब्रह्म विद्या का साक्षात साधन नहीं कर्म में साक्षात नहीं हो स्वर्ग देव भी ऐसे ब्रह्म विज्ञान की वृद्धि भी साक्षात साधन नहीं है वेद वेदांग न तो साक्षात ब्रह्म विद्या का शेष है न तो ब्रह्म विद्या का सहकारी साधन ये भी जो है सहकारी साधन भी नहीं है ये भी क्या है शब्दार्थ बोल कराएंगे परोक्ष बोल करा करके चले जाएंगे सारा वेद वेद और शिक्षा आदि मिला करके मानो उपनिषदों को आप समझ रहे हो विषय तो साक्षात ब्रह्म विद्या है ऐसा लगता है कि नहीं है इससे आपको केवल ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म चाहे सुगुण ब्रह्म का केवल अवबोध मात्र होगा परोक्ष ज्ञान होगा लेकिन परोक्ष ज्ञान व अपरोक्षानुभूति के बीच में अंतकरण शुद्धि भी तो है परोक्ष ज्ञान करने के लिए अंतकरण शुद्धि होना कोई खास जरूरत नहीं बड़ा बुद्धि समय है मन थोड़ा विकार है तो भी पकड़ लेगा समझ लेगा सबको लेकिन उसको अनुभव में आने के लिए उपासना करने के लिए जानने के बाद करना भी तो है वो करने के लिए अंतकरण की शुद्धि करते शायद उसके लिए तपकर्म इत्यादि इसे यथा वेद वेदा स्वर्ग वेदा साक्षात साधन नहीं है ज्ञान बोध मात्र पर्यंतों को क्षीण हो जाता है उसी प्रकार से वेद वेदांग प्रवृत्ति का भी साक्षात साधन नहीं है यथा ये ठीक उसे तपकर्मारी भी ब्रह्म विद्या का साक्षात साधन या सहकारी साधन साकटी करता राम अपनी यथा योग विभज्य योग कोई पक्षी कहता है अरे आप नहीं जानते हैं जो शुक्ला को यहाँ से पूर्व पक्षी काफी लंबा बोलेगा लेकिन मीमांसा दर्शन की मैं समझ नहीं आई कहीं भी मीमांसा दर्शन ला रहे यहाँ तो नहीं पढ़ा है कोई कान बंद कर सुनो मत फायदा नहीं सुन के क्या करो तो मीमांसा पढ़े सुनेंगे तो समझ नहीं आएगा उनको वासुक्त आपका निमंत्रण मंत्र होते हैं तो देवताओं का आह्वान किया गया है कर्मकांड संपन्न हो गया उसके बाद देवताओं को जा बोलना है जाइए हो गया काम विदाई करनी है देवताओं को उस विसर्जन के लिए जो मंत्र प्रयोग होता है उसको कहते हैं अनुमंत्रण मंत्र इसी टीका कार्य अग्निर्गम अजुषतो अविवृद अविवृद मोर्चायो अकृतो अग्निशोमाविर्म अविरजुषोताम अविवृदे अक्रांताम यहोध्याय अक्रादाम इत्यादि मंत्र है यहाँ पर एक पहला मंत्र में अग्नि देवता है दूसरे मंत्र में अग्निशम दो देवता है अब अन्य यागों में अग्नि में अग्निशम और सूर्य देवता मान विकृति में वहां भी तो करोगे भी नहीं हो तब आप क्या करते हैं अग्निशम घटा की यही मंत्र वहां चला जाता है एक देवता है एक वचन वाला अग्निरितम है उसको ले लूंगा जहाँ दो जगह तो बहुत बहुत देवता है और द्विवचन को उपलक्षित कर बहुवचन वाला मान करके अपने श्रमों वितरण को ही हम सब जगहों में जाएंगे एक देवता तो तारा मंत्र अगली शब्द का उस देवता का नाम जोड़ करके विदेवता या बहुदेवता यज्ञ हो तो उन देवताओं स्थान में क्या करेंगे दूसरे मंत्र को हम विनियोग करेंगे विभाजन पूर्वक विनियोग होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी करो तो दोनों इंद्रियों को एक साथ पति है और दस पूर्णमास में अग्नि भी है अग्निशम देवता भी है दश से अग्नि केवल अग्निदेव का त्याग भी एक होता है और अग्निशम देवता का आग भी होता है दोनों मंत्र से सात पति के साथ में दश से उपयोग भी होता है उसके बावजूद जब उनको अग्नि भागों में ले जाएंगे वहां साथ नहीं ले जाएंगे जरूरत के मुताबिक वो लेट जाएगा या दूर भी जा सकता है पहले वाला जा सकता है या दूसरा वाला जा सकता है कोई निश्चय नहीं है जैसा जरूरत है वैसा उपयोग होगा वहां करे सपठिता नाम अपनी यथा योग्य विभज्य विनियोग यथा अभी सिद्धांत नहीं लग रहा है पूर्व पक्ष उसी पूर्व पक्ष उसमें व्याख्या कर रहे यथा सूक्तवादान मंत्र मंत्राम यथा देवतम विभाग तथा तपोदम कर्म सत्यादि नाम धर्म विद्याशेषत्व और सरकार पूर्व पक्ष समय जा रहा है लायुक्त तक पूर्व पक्ष जाएगा पहले संक्षेप में बोल जो पूर्व पक्ष को मंत्र की देवी संक्षेप में बता दिया एक वाक्य से स्वापरिदान व्यथा होगा क्या पूर्व पक्ष उसी पूर्व पक्ष को और विस्तार से समझा रहा है जैसे सूत्र वार्ता मंत्र मंत्र सावणित है फिर भी यथा देवतम विभाग यथा देवत जो है आप अन्य यागों में जब ले जाओगे तो विभाग पुरुष उसका प्रयोग कर लेते हैं ठीक उसी प्रकार से सहापटित बढ़ेंगे वेद वेदेश अंगेश और नियोग कर देंगे तपो जमा करो सत्यादि नाम ब्रह्म विभाग करो तप यहाँ कर्म सत्यादियों को प्रविद्या का शेष ब्रह्म प्रविद्या को तो सहकारी साधन करके कल्पना करूंगा वेदाराम तेलंगारांच अर्थ प्रकाश कर्मार्थ ज्ञान उपाय और वेद तथा वेदांग ये दोनों गुण है अर्थ प्रकाशन द्वारा यथा कर्म में तथा आत्मज्ञान में भी साधारण उपाय रूप में करना एक साधारण उपाय मिलेगा और जो दूसरा विशेष उपाय बन के महाप्रम विद्या में साधन बन जाएंगे कौन तपधमारी और साहब बड़ी धनी वाले तो दोनों बड़ा अभिनय कर दिया ना अभी जैसे अग्नि निगम को आप हार ले गए अगर अग्निशम को दूसरी जगह ले जाएंगे अगर अलग हमले कर देते वहां साहब होने पर भी इसी वजह यहाँ पर भी काला तपोदम इत्यादि को ब्रह्म विद्या में ले जाओ और वेद वेदांत बारह पुटित उत्तरार्ध में उसको जो है सामान्य कारण कोटि में ले जाओ अपने परंपरा का अनुकूति देंगे उसको साक्षर का अनुकूति मत ही अयम विभाग युजते अर्थ संबंध बुद्धि समर्था अर्थ के संबंध का प्रवृत्ति के सामर्थ्य से जो है ऐसा विभाग पूर्वक सुनियोजन करना भी उचित होता है शब्द शब्दार्थ अनुभव करना अगले मंत्र का उचित होता है तो ये शिशि का कष्ट भी सार्थक होता है सिद्धांत अगला मंत्र को ब्रह्म विद्या का साधन या सहकारी साधन किसी रूप से अनुभव नहीं कर सकते नहीं अयम विभाग हो घटना पंच ये जो विभाग है वर्तमान घटना वर्तमान जो प्रसंग है आचार्य का वचन उसमें अनुकूल बैठता है न पांचती न अनुकूलम न करता है अयम विभाग प्रसंगानुकूलम नवती नहीं सर्व क्रिया का फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या सहकर साधन सर्व क्रिया काल फल भेद बुद्धि को ही तिरस्कृत कर देने वाली ब्रह्मविद्या को किसी भी प्रकार की शेष की या सहकारी साधनों को संबंधित करने की अपेक्षा ही नहीं हो सकती सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यगात्म विशिष्ट पाठ सकल विषय को व्यावृत्त होकर प्रत्यगात्म विषय मात्र विषय करती है कौन ब्रह्म ब्रह्म विद्या हाँ, तत्फल निश्रेष क्योंकि ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या का जो फल है ये श्रेष्ठ ये दोनों क्या करते हैं सर्व विषय व्यावृत प्रत्येगात्म विषय विष्ट होते ही होने से होने से उसके साथ जोड़ देना नहीं युद्धते नहीं साधारण सहकार साधन वा नहीं उच्चते उसके साथ जुड़ जाएगा इसे क्या प्रमाण है या निश्चय से या प्रविद्या प्रविद्या का फल ये किसी भी साधन की अपेक्षा ही नहीं रखते कैसे पता चला अरे मोक्षम मिठम सुधा कर्म तुझे देव साधनम क्लिरतैव ही तज्ञेयम प्रत्यक् परम पदम मोक्ष ससाधन कर्म सदा तेजे मनुष्य को चाहते हुए व्यक्ति को साधन से तो समस्त कर्म को त्यागना ही चाहिए तेजता एव ही तत्म त्यागता हुआ पुरुष के प्रति ही वह ब्रह्म जी हो जाता है क्यों क्योंकि त्यक्त वो प्रत्येक कर्म लेवा पद वो जो पद है मोक्ष पद वह त्याग करने वाले का निज रूप ही है प्रत्यक्ष रूप ही है उसे नहीं तो ब्रह्म क्या है तो मोक्ष है ब्रह्म है ब्रह्मानुभूति कहते हो ब्रह्म साक्षात्कार कहते हो वो है क्या उस प्रत्येगात्म स्वरूप से भिन्न ही नहीं ये प्रत्येक परमेव एक तो प्रत्येक परमेव तत्फलम अतएव तैव ही तदम त्यागने वाले के प्रति ही वह ब्रह्म साक्षात्कार कृषि हो जाता है जी को कहा त्याग उत्तम आमिष को नाम सहकारित्व कर्म शेषापेक्षा व न ज्ञान से प्रतिदे कर्मों का सहकर्मों को सहकर्म रूपेण या कर्म को शेष के रूपेण अपेक्षा ज्ञान को कभी हो नहीं सकता ज्ञान से कर्म शेषत्व अपेक्षा ऐसे समय कर्म शेषापेक्षा टिप्पणी यहाँ पर कर्म रूप यह शेष हो अंगम सहकारी व तदैव इच्छा न उपपद्य ऐसा नहीं करना लेकिन अगर कर्म शेष अपेक्षा लग रहा है है ना लेकिन कर्म रूपी जो शेष उस शेष की अपेक्षा नहीं है मैं कर्मात्मक तो साधन तो कर्म क्या है तप दम कर्म राम है तप दम कर्म इन कर्मों का शेषत्व ज्ञान के लिए अपेक्षा नहीं है न तो सहकारित्व ने भी कर्म को सहकारित्व में भी ज्ञान के प्रति अपेक्षा नहीं है तो अतदेव सूत्राकार मंत्र इसलिए वो जो पूर्व पक्षी ने कहा सूत्राकार मंत्रण को दृष्टान्त बना करके उसके तुलना आप करो ऐसे वो असत्य ही शंका है अतः यथा विभागनीति ही यदि उत्तम तक असदेव उसने सूत्राकर मंत्र के समान यथायु विभाग करके अन्वय करना चाहिए ये जो उसने कहा वह असत ही है तस्मात जो हमारा निर्णय है आचार्य का वचन जो पूर्व था उक्ता थे उपनिषद ब्राह्मण्यपूर्णति ये अवधारण पर हमने निर्णय दिया था वो निर्णय सही है भाषिकर कहते हैं तस्मात अवधारणार्थता एवं कष्ट प्रतिवचन सिद्ध बन गए इसलिए वहां जो प्रश्न है शिष्य का और भी जो जवाब है प्रश्न है केवल अवधारण का निश्चय कर लिए सापेक्ष है या निरपेक्ष है सापेक्ष नहीं है निरपेक्ष है निरपेक्ष है अवधारण करना चाहिए और अवधारण पर भी आचार्य को में ऐसे समन्वय करना वेदावती एवं उपनिषद उत्ता अन्य निरपेक्षा अमृतत्वाय स्पष्ट कर देना शिकार है एकावधि एवं यम उपनिषद इतनी है जो तुमको कह दिया गया उत्ता उपनिषद अन्य निरपेक्षा अन्य कोई साधन या सहकारी साधन किसी की भी अपेक्षा नहीं है अमृत अमृत प्राप्ति करने के लिए इस तरह से स्पष्ट हो गया ऐसा है ज्ञान नाम व्यामी उपनिषदम तब अग्र ब्रह्म की तब क्या उपाय उपनिषद प्राप्ति उस उपनिषद की प्राप्ति ले जाओगी उपाय भूतानी तप आदमी लेकिन वो जो सभी उपासना में नहीं कर पा रहे ना वो कैसे हमने होगा ये वो हमको तो दूर की बात वो सभी ब्रह्म उपासना खोपड़ी में कुछ नहीं बैठ रहा है बैठते हैं अब मंत्र भी याद नहीं हो पाता है यदि चित्र से घटमट लिया तो ये अर्थ याद नहीं आता है अब मंत्र भी याद है अर्थ भी याद है इन सब आगा मृत्यु बनती है क्रम के साथ आपने कहा तो दिया बिजली के समान आग बंद करने के समान जहां जो है अलग गिरता उठता विषय को ग्रहण कर लेता है प्रकाशन कर लेता है उसी प्रकार ब्रह्म जो है ना हर वृत्ति हर ज्ञान के साथ में रह करके समस्त विषय ज्ञान का साक्षीभूत होकर के महाब्रह्म जो है हम सब के अनुभव का विषय बन रहा है क्योंकि कहने को तो बड़ा आसान हो जाता है फिर बैठ के ऊपर होकर क्या करें ऐसा आदमी क्या करें तो इस से भी पकड़ में नहीं आ रहा कुछ आगे भी क्या होगा करी प्रतिष्ठा मेरा सर्वांगानी सत्यनायतनम तस्वीर उस उपनिषद रूपी और उस उपनिषद का शरीर की कल्पना कर दी उस उपनिषद के लिए कोई शरीर मान ये शरीर क्या है क्योंकि शुद्धिकरण है ना शरीर में तो शुद्धि होगा अंतकरण कहाँ है शरीर में है ना बाह्यकरण और अंतकरणों की शुद्धि बाह्यकरण भी गड़बड़ करते जो नहीं देखना चाहिए उसी को देखने में लगे रहेंगे हम हाँ? उनको वो चीज देखना पसंद आता है लोग टीवी देखने जाते क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो उसमें बड़ा अच्छा मुझे आगे नाचते तो नहीं अच्छे लगते और टीवी देखते क्या मतलब अब जरूर अंकों की खराब आ नहीं अंकों की वृत्ति से विचार ठीक नहीं तो बहिकरण शुद्धि होना जरूरी है अंतक्रम शुद्धि होना जरूरी है तीनों होने का महात्मा के पास ही मुसलमान के गाना गुनगुनाते आप भजन गुनगुनाओ ना अरे सब छोड़ दिया भजन करने के लिए आए हो तो कभी भजन तो गुनगुनाओ भगवान के नाम गुनगुनाया करो मेरे सिन्हा की गाने याद आते क्या तो इसका जब मतलब स्रोत इंद्री में भी ठीक नहीं बन पाया अभी उसको भजन सुना पसंद नहीं आया इन बारीक करणों की शुद्धि अंतकरणों की शुद्धि के बिना जो है कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए सुपुरुषद को प्राप्ति करने के लिए तस्वीर सुपुरुषद को प्राप्त करने के लिए तप दम कर्म ये तीन चीज क्या है पद प्रतिष्ठा पैरों के समान इस शरीर का पैरों की जैसे समझो उसे शरीर का पैर वेदा और वेद क्या है उसके बाकी अन्य अंग समझो और सत्यम आत्मा सत्य उसका मूल निवास स्थान है हृदय सत्य ही इसका हृदय है तो हार्ट अटैक हो जाए सत्य आपने बोलना बंद कर दिया तो उपासना सब उपनिषद गया आपसे हार्ट अटैक हो जाएगा ना आपने सत्य में छोड़ दिया सत्य हार हो गया आपने झूठ बोला मैंने सत्य गया सत्य क्या तो हो गया हार्ट अटैक हो गया शरीर मर जाएगा तो उपनिषद हाथ से चली जाएगी लोग झूठ बोलती है इसीलिए तो ऊपर से भी आप लग रहा है बाहर की ठीक नहीं है इसलिए कहते है सत्यम आयतन सत्य ही समूल निवास स्थान है अभी भाषिकार यह भी नाम ब्रह्म परिषदम अवग्रह ब्रह्मा वह यह जो ब्रह्म परिषद तेरे सामने कह दिया था तस्वीर तस्या उपनिषद प्राप्ति उपाय भूतान उपाधि उसी उपनिषद के प्राप्ति का उपाय विद्या की उपाय नहीं है उपनिषद की प्राप्ति का उपाय ये जो सगुण ब्रह्म का बताया गया उसकी ही प्राप्ति का उपाय है तत्वाधि तथा काइंद्रिय मनसाम समाधान तब क्या है काय और इंद्रिय और मन इंद्रिय से मान इंद्रियों को लेना मन संकट को लेना तो शरीर स्थूल शरीर और स्थूल शरीर मान जो बाह्यकरण और अंतकरण इन तीनों का जो है समाधान करना ही तप है दम क्या है उपशम दम कहते हैं उपशम निग्रह कर लेने की चीजों पहले समाधान कर दो समाधान करने के बाद जब जब भागने लग जाए तब पकड़ के दबा दो उसको दबाना निग्रह कर दो दमा पहले वाले पे पता सबसे समाधि हो सकता तप तो और सम बराबर समाधान करना दमा कर्म भी अग्निहोत्रा नित्य निमित्त कर्म इसको छोड़ रहा नहीं इसके बिना जल तक शुद्धि नहीं हो सकती है कर्म शब्द इसलिए अग्निहोत्र आदि ये तो ही संस्कृत सत्य शुद्धि द्वारा स्पष्ट कर इनके द्वारा संस्कारित होने के बाद में ही शुद्ध एक तो ही संस्कृत पुरुष से सत्य शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान उत्पत्ति ही उसी के द्वारा ही तत्व ज्ञान उत्पत्ति ऐसे अपने कैसे करे दृष्टा ही अमृत परम सत्य अपनी ब्रह्मणी अप्रतिपत्ति विभिन्न प्रतिपत्ति यथा इंद्र विरोचन क्योंकि संसार में देखा गया जो अमृत कलमश वाला है जिसने अपना कलमश को मृदित नहीं मृदित कषाय नहीं है कषाय वाला है अभी मन है उसके अंतकरण में अशुद्ध इंद्रकरण वाला है उसको उगते भी कहने के बावजूद भी सारा प्रश्न को पचास तरीके से समझा लो सेवरों अनुष्ठान दे दो फिर भी कहेगा नहीं जी ऐसा भी मैं अलग हूँ उग्र अलग है इसे कहते हैं ब्रह्मणी अप्रतिपति या तो प्रतिपत्ति नहीं होगी या तो विपरीत उल्टा ही ग्रहण करेगा यदि विरोचन कर गया यथा विरोचन इंद्र को देखी पहली बार बताया तो समझ में नहीं आई फिर चला गया चला गया तो उस समय सतर्क कर दिए ब्रह्मा जी ने जाते रहो सोच लो अच्छी तरह से जाओ तो हमें कोई आपत्ति नहीं जाओ तुम्हें यहाँ सोच लो देगा इंद्र के कोबरी में शासन को क्यों कर रहे हैं ऐसे सावधान क्यों कर हो गया एकांत बैठ गया देवता के पास नहीं है देवता उनके पास और अपने एकांत बैठ के सोचने लगा तो समझ में आई अरे इसको तो जुकाम हो जाता आपको कभी तो जुकाम नहीं होता ये शरीर फल जाता है क्योंकि आपका भी फल जाया गया जब सोचा फिर लौटा नहीं नहीं तो ये आत्मा नहीं हो सकता जो छाया पर जन्म हमको दिखाया सात जन्म गदव करके ये जो है आत्मा नहीं इसके अलंकरण करने से आत्मा थोड़ी अलंकृत हो जा रहा विचार किया होगी पहले तो आप प्रतिपत्ति हुई और विरोचन को तो पूरा ही विपरीत प्रतिपत्ति हुई वो तो उल्टा तो शरीर को ही आत्मा मान के चला चार वाक हो गया इसलिए कहते थे देखो कि यही होता है अमृत कषाय वालों के लिए अमृत कर्मश वालों के लिए जितना भी ब्रह्म ज्ञान सुना दे हो फिर भी उसके बावजूद भी वह अपना दुराग्रह को छोड़ता नहीं है जैसे आजकल के भी संप्रदाय वाली लोग भी तो ऐसी कोटि में है अपने अपने संप्रदाय की बात लेके तब भी नाचते नहीं छोड़ते ही नहीं समझ में आ गया सही लग रहा है अनुभव करना बाकी है तो करो ना क्यों उसका विरोध करो मानते हैं तो अपनी कट्टरता है ना कट्टर बोलते हैं कट्टरपंथी तो इसलिए तस्मान यह वातिशिला बहुशु जन्मांगेशु सत्वादिकृत सत्य शुद्ध ज्ञान शब्द इसलिए उसी के अंदर यथाश ज्ञान उत्पन्न हो सकता है जैसे सुनेगा ठीक उसी प्रकार का ज्ञान उसके अंदर उस व्यक्ति को उत्पन्न होगा जो अतिथिश व बहुशु जन्मांतरेशु गए हुए बहुत सारे जन जन्मांतरों में किए हुए तप आदि के द्वारा कृत सप्त शब्द है जिसके अंतर कर्म शुद्ध हो चुका है उसी का अंदर यथाशब्द ज्ञान समुद्रते यथा शब्द ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा इसलिए कहा है श्वेताश्रुत में मंत्रवर्ण ने स्पष्ट कहा यश्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा करो तस्वीर देवी कविता श्रद्धा प्रकाश देवी महा तपस्य महात्म उम्रे प्रकाश जिस व्यक्ति का जिस प्रकार से अपने भगवान में उसकी भक्ति होती है वो जिस प्रकार की भक्ति भगवान में पराभक्ति होनी चाहिए पहले ये देवे पराभक्ति भगवान में जिसकी यही भाग देखो ऊपर आ रहा है उसमें किसमें भागवत ये तो कहा पराभक्ति इसी श्रोति का अर्थ पूरा प्रथम स्तंभ की दूसरा अध्याय इसी की व्याख्या कर रहा है देव देवरावृद्धि यथा देवी सुखा पुण्य तीर्थ निषेवना कला का श्लोक में पुण्य तीर्थ का निषेवन गुरु की सेवा जिस प्रकार की भक्ति पराभक्ति के भगवान की सेवा करते हो उसी प्रकार की पराभक्ति गुरु की सेवा करोगे तब तो वह गुरु जो कहेगा वह पदार्थ उस शुद्ध अंत करने वाले शिष्य के गुरु है तुरंत ही प्रकाश ये बड़ा दूरी अध्याय यही है वहां इसी मंत्र की यसी देवे पराभक्ति ही यथा देवी तथा गुरु तस्ये प्रति ये कविता प्रकाशन इति मंत्र में ज्ञान मुक्ति हृदय पुमसाम क्षया था करो करोना महाभारत यदि सुनते हैं यदि उपलक्षण प्रदर्शन कर्म इति है ना मंत्र में तपोदमा कर्म इति आया और तो इति क्या है मतलब उपलक्षण करता है इतना ही नहीं लेगा और भी जो जो अंतकरण शुद्धि का साधन है सारे को ले अंत अंतकरण शुद्धि का और जितना भी का विधा सट का सट संपत्ति बताया यहाँ तो तीन है ना तो छह मिला दिया है और यहाँ तो दो ही है वहां के वहां में से दो ही तप और कर्म तो है नहीं समुद्र में यज्ञ दाने तपसा अनाश यज्ञ है कर्म आ गया उसी मंत्र के आगे पर बोल रहे यज्ञ दान तक ब्रह्मणा विदिशन विदिशा का कारण ही है सब भ्रमित का साधन नहीं है ये विदिशा का साधन इसलिए कहते हैं कि केवल आदि अन्य ज्ञानोत्पत्ति उपकारकम अन्य भी जो जो ज्ञानोत्पत्ति में उपकारक होते हैं उन सारे को लेना कौन है वो जैसे की गीता ने कहा अमानुतम मदम वित्तम इत्यादि को भगवती इत्यादि गीता शास्त्र बताया गया है प्रतिष्ठा अब प्रतिष्ठा से उपक्रम करते प्रतिष्ठा मैंने पादो पादो इव अश्या इस सगुण उपासना रूपी शरीर के चरण कमलों के समान ये चरण है पादुव अस्या सबसे प्रतिष्ठित क्योंकि ये तत्व धर्म कर्म आदि ये भी है तो उपासना टिकती है ये नहीं है तो उपासना नहीं टिकती ये हमने कहा कभी तो ये सब पीछे हो गया हार्ट अटैक हो गया टिकेगा तो काम टिकेगा तो नहीं खत्म मर गया ना शरीर से हार्ट अटैक होने से आपने सत्य छोड़ा झूठ बोला मैंने उसी दिन समझा तो परिषद नहीं आपके हाथ से खत्म हो गई ये सबसे खतरनाक चीज झूठ बोलना सबसे खतरनाक काम आत्मा मुख्य के लिए तो झूठ बोलना ही नहीं लोग दोनों जगह झूठ बोल सकते हैं बोलेगा कैसे प्राय कम वैसे जो होगा सब हो जाएगा जो बोलेगा नहीं ना वो तो बोलने वाला ही नहीं रह गया जो बोलने वाला था वो तो खत्म हो गया अब वो बोल ही नहीं रहा आप ये बोल रहे अपराध कर्म से बोल हो रहा है बोल रहे है ना अपराध कर्म से हो रहा है तो ऐसे वो झूठ हो रहा है या सच हो रहा है भगवान मतलब ही इसीलिए कहते हैं कि देखो प्रतिष्ठा में पादव पादव युव अस्या तीसरी सत्सो प्रतिष्ठित ब्रह्म विद्या प्रवर्तने अज्ञान पुरुष है जैसे पैरों से आदमी चलता है गांव पहुंच जाता है उसी प्रकार से ये तपो सत्या यदि है तो इसी के अर्थ में देवी प्रवृत्त हो जाती है मेरा छत्तारा सर्वाणी चंगाणी शिक्षा आदि मेरा छप्पा वेद कितना है चार सर्वाणी चंगाणी कौन है वो शिक्षा आदि शिक्षा आदि छह शिक्षा आदि छह है अंग ज्यादा नहीं है कर्म ज्ञान प्रकाश वेदा नाम क्योंकि वेद प्रतिष्ठा कैसे हो गया कर्म ज्ञान के प्रकाशक नहीं थे वेदों को हम प्रतिष्ठा मानते और जब रक्षणार्थ प्रत्याग और उस ज्ञान का रक्षा करने वाला है इसीलिए अंगों को भी हम प्रतिष्ठा मानते प्रतिष्ठाता उन्हें दृष्टांत को घटाया दृष्टान्त ये दृष्टांत माने वेद और वेदांत ये दृष्टान्त है वेद और वेदांत दृष्टान्त प्रतिष्ठा जैसे वेद वेदांग प्रतिष्ठा है कर्म में उसी प्रकार से तप दम इत्यादि उपासना में प्रतिष्ठा है तो वेद क्यों प्रतिष्ठा बना ये कर्म ज्ञान प्रकाश कौन से वेद प्रतिष्ठा रूप है और तार्शिकों में कर्म ज्ञान को सुदृढ़ करके रक्षा करने वाला शिक्षा आदि शरण होने के कारण से उन षणंकों को भी हम प्रतिष्ठा मानते हैं एक पक्ष अथवा कभी दूसरा पक्ष लेंगे इसको दृष्टांत नहीं मानेंगे दृष्टांत पक्ष न लेकर के छिलानी वेद वेदांत दृष्टान पक्ष मना करके जवाब दिया जाए मान के चले थे अभी तक वेद और वेदांत क्या है दृष्टान किसका तपारी के प्रति तपारी को प्रतिष्ठा मानने के प्रति वेद वेदांत को दृष्टान मान करके व्याख्या किया दूसरे पक्ष में देखेंगे तो कि तपा दमहा और वेद वेदांग कर्म ये सारी चीज क्या है प्रतिष्ठा और धर क्या है प्रतिष्ठा मैंने पैर के समान तो वहां कहा था कि सारा का सारा पैर समझो और धर क्या है इसको धारण करने वाला सत्यम नहीं ब्रह विद्या की ओर हम नींद के द्वारा और जा रहे है पैर चलना चलेगा तब न पहुंचोगे उसी प्रकार जब तक तपा धर्मा कर्म वेद वेदांतों को समेत प्रकार से अध्ययन करके इनका अनुष्ठान नहीं करेंगे अब तक तो शुद्धि द्वारा ब्रह्म में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो सकती इसलिए ब्रह्म में प्रवृत्ति के लिए पैर के समान पैर वेद वेदांत तप तपोधमा कर्म एक पक्ष की अथवा पैर पहले तीन को ले लो इसे वही जोड़ लो तपह दम कर्म की प्रतिष्ठा पहले क्या लिया था पपा दम कर्म वेद सांगादी इति प्रतिष्ठा ऐसे अनुकी की अब करें अथवा आवास करते नहीं ऐसा भी हो सकता है वेद कहने से शरण दे से वेद आ ही जाएगा शरीर को पकड़ो तुम तो क्या आएगा हाथ पर सर आएगी नहीं आएगा पकड़ खेचोगे तो इसलिए वेद में यही तो आएंगे अलग से अंगों को कहने की कोई इधम अनुशब्दार तो वेदों को सांख्य वेद संपूर्ण ये क्या है हाँ और क्या है तपा दम उतने को ही तपा दम कर्म ये तीन चीज जो है प्रतिष्ठा है और वेद क्या है अन्य अंग है और इन सारे अंगों को और पैरों को धारण करने वाला कौन है सत्यम आय ये दूसरा पक्ष बताने के लिए अथवा प्रतिष्ठा शब्द से पाद रूप कल्पना प्रतिष्ठा शब्द को आपने पाद रूपी रूप से कल्पना किया इसलिए वेदार्थ इतनी सर्वाणी अंगानी और वेद को क्या समझना बाकी सारे अंग सिर हाथ तो सब ले लो अस्मिन बच्चे शिक्षा विराम नाम ग्रहण नहीं ग्रहण सबके शंका कर सकता है तो शिक्षा ज्योतिष में जो शरण है इनका तो ग्रहण होगा नहीं तो कहते नहीं वेद ग्रहण करने से ही शिक्षा ही जो छह अंग है वो भी अपने आप रिक्त हो जाएंगे ग्रहण ग्रहण प्रत्येक व्याम ग्रहण कर लिया गया ऐसे आप जानो क्यों अंगीनी गृहित अंगानी रूपा नहीं बनती क्योंकि अंगी को आपने पकड़ लिया सारे अंग तो अपने आप पकड़ में आ जाएंगे इसलिए इनको अलग से कथन करने की जरूरत नहीं है इसलिए अंबानी शब्द भी कुमार अपने ले लेना जैसे प्रतिष्ठा शब्द कुमार है बाहर के समान अंगों का भी अंबानी शब्द भी अंगों के समान शिक्षा के तरफ उसको लेना ये दूसरा पक्ष तब आए तरफ अंगाना क्योंकि वो जो वेद है अंगी है वो क्या है अंगी का आयतन इसलिए आयतन पकड़ आ गया सारे अंग भी पकड़ेंगे आ गए जैसे आप कमरे में घुस गए अब आप कमरे में जो कुछ भी है अब आपके अधीन होगा ही नहीं होगा चाहे बिस्तर है या अलमारी है उसके अंदर जो भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं आप आपके हाथ में आ गया आयतन वगैरह में आ जाता है उसके अंदर अंग ग्रहण अपने आप जैसे होता है वैसे वेद जो है इन छह अंगों का शिक्षा ज्योतिष का अंगी होने के कारण से वेद ग्रहण कर लिया तो सारे अभी यहाँ अंगानी जो शब्द मंत्री जो अंगानी शब्द है उसको अंगानी की ओर ऐसा लेगा उसे तो प्रतिष्ठा शब्द क्रिया पादो इव उसे यहाँ अंगानी शब्दों को अंगान दूसरा पक्ष में सत्यम यत्र तिष्ठति उपनिषद पद आयतन दूसरे होते जहाँ आप रहेंगे जहां उठेंगे बैठेंगे खाएंगे पीएंगे सोएंगे फिरेंगे वही तो है आपका मकान है रहने का स्थान है आयतन है इसी प्रकार पर भी यत्र तिष्ठति क्या आप नहीं उपनिषद जहाँ पर उपनिषद रहता है किसमें रहता है उपनिषद किसमें रहता है उपासना किसमें रहता है ब्राह्मी विद्या किसमें टीका है ये सबकी पर टीका मूल आधार ही साधना का जो साधु होकर या साधना करना चाहता है साधक होकर सबकी बोलना नहीं जानता वो अब कभी साधना कर नहीं सकता उसकी साधना लौकिक फल दी गई स्वर्गारी देगा करते रहे ना तपस्या लेकिन उसे झूठ छल कमर जंग ध्वन करता है तो निश्चित रूप से उसको स्वर्गारी मिल जाएगा माया मिल जाएगी चरा चली जम जाएंगे काम दूसरे व्यवहारिक काम लेकिन जिस लक्ष्य से साधना में लगा था वो तो कभी उसको प्राप्त हो सकता है क्यों उसका आधार ही टूट गया क्या आधार इंद्रिय इसके बिना कुछ चल नहीं सकता तो टिक नहीं सकता ये खंबे है समझो और सत्य नाम खंबा नहीं रख दो तो क्या टिकेगा इसलिए कहते हैं भाई ये जो है यह प्रतिष्ठ प्रतिशत कर आयतरण सत्य अमायिका बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं सत्य का मतलब ये भी सोच रहे कि सत्य बोलना और ताकि वो दूसरा काम करते रहेंगे झूठ नहीं बोलूंगा तो ढोंग करूंगा झूठ तो बोल रहा हूं ऐसे इसको ही कहे सत्य झूठ नहीं बोलना तो भाषिका सतर्क करते इसलिए ये मत समझो झूठ ना बोला फिर बाकी सारा ढूम करोगे छल कपट करोगे तो तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ऐसे कभी नहीं सकता हमारी का राम वामर कायाराम ईश्व आश्रित जिसके वाणी मन और शरीर के द्वारा माइका नहीं है ढूंढा नहीं है ये नहीं है और झूठा भी नहीं हो तो कहना ही की जरूरत नहीं सत्यम से अपने वो आई गए इसलिए जब नहीं आ पाता है सत्यम से उसको लक्षित कर दिया तो सामान्य रूप से सब शब्द जो लोग ग्रहण नहीं करते हैं तो उसको भाषकर ज्ञान भी उठा करके कह दिया देखो अमायता होनी चाहिए और कौटिल्यता होनी चाहिए किसमें वाणी में मन में शरीर से ही ऐसी जो करने वाले साधक हैं उनमें ही विद्या आश्रय होती आश्रय विद्या विद्या आश्रित हुआ करती है ये अमायाविना साधन स्पष्ट कर दिया ये तेषु ये अमायाविन साधव तेषु विद्या जिस प्रकार से अमाई है और जो है अपील है इत्यादि सब सब गुण सब कमाई तो ही है उन सब से युक्त कर जो रहता है वही साधु के हृदय में विद्या बिस्ती है नाचिर प्रकृति मायावी तो असुर प्रकृति वाले ही मायावी जो विचार करता ध्वन करते ही इन लोगों के मुख्यमंत्री विद्या कितनी परोक्ष विद्या रहेगी यहाँ परोक्ष विद्या के लिए इनकार नहीं है अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति को निषेध किया जाता है पूरा अप्रोक्ष विद्या का विचार है इसलिए अप्रोक्ष विद्या के बाद खंडन कर रहे नहीं हो सकता उनके अंदर परोक्ष विद्या तो होगा तभी तो भ्रम करेगा पुरुष विद्या को लेकर भी तो भ्रम करना है पुरुष विद्या को लेकर भी छल को करना इसलिए परोक्ष ज्ञान का इंकार नहीं कर रहे हैं आपकी बुद्धि तेज है आप शब्दों को पकड़ लिए हैं अब उसको उल्टा पुलटा करके प्रवचन करने समर्थ हैं कर उससे कोई आपत्ति नहीं लेकिन आपके साथ कर जो वास्तविक साधक का लक्ष्य था मुख्या थी वो तो बीच में ही रहूंगा दिया भक्त तो इसलिए कहते हैं तस्मात सत्यम मायत्र हम्म। नागरिक प्रदेश माया असुर प्रकृति माया भी नहीं हो सकता न ये जीवन मंडतम न माया चे विश्व है स्पष्ट दर्शन स्पष्ट का जिसके अंदर जीवन नहीं है अमृत नहीं है माया नहीं है उनमें ही अपनी विद्या हुआ करती है प्रश्न है प्रश्न प्रश्न पहला प्रश्न का सोलवा मंत्र है जीवन मैंने कुटिलता जिहुमा कहते हैं कुटिलता जिसमें कुटी लता नहीं है झूठ नहीं है माया नहीं है इन्हीं के अंदर विद्या बस्ती है तेषाम असौ जो लोग ब्रह्मलो को भगवती ऐसा मंत्र शेष है तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलो को भगवती वो ब्रह्मलोक नहीं है लेना इसलिए विरजा विशेषण भी है विरजा ब्रह्मलोक जिसमें रजगुण नाम का लेस मात्र नहीं शुद्ध सप्त स्वरूप में स्थित होने पर प्राप्त होने वाला जो ब्रह्मलोक है वह ब्रह्मलोक का प्राप्त होता स्वरूप होता लोग कोई ना आएंगे उसमें प्रश्न प्रश्न में विस्तार हाँ। संचार सत्य लोग का ही नहीं शुद्ध आपका ही ब्रह्म एवं ब्रह्म लोक का ब्रह्म स्वरूप है ना आपका स्वरूप होता लोक के असली के लोग कर्मणी उत्पत्ति कर लोक भी लोग कहा ब्रह्म एवं अनुभूय थे लोक्य थे अनुभूय थे स्वरूप ब्रह्म हाँ, जो आप अपने स्वरूप से ब्रह्म को अनुभव कर लेते हैं उसी का नाम और कुछ नहीं है हाँ, सात आत्मा सुपर सही <laughs> तो है इसलिए विरजा जिससे जो है विरजा हम कर देना इसलिए कर विरजा हम जाए है फल प्राप्त हो जाना सारा चीज को सुहार कर दिया और स्वरूप को प्राप्त कर दिया तो वास्तविक है कि दीक्षा हो गई तो ब्रह्मज्ञानी हो जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है बात अपना उसके अपना अंतकरण की बात है कि मंत्र बोला स्वाह कर गया उसका कल अर्थ नहीं पता नहीं मंत्र उसने क्या क्या स्वाह किया सोचो उससे कभी तो बोलते रहे स्वाहा हम कभी स्वाहा डाल दिया तो तो मंत्र सुना तो मंत्रों का अर्थों का ज्ञान है दे रहे हैं वो भी नहीं समझाते ये भी है समस्या मंत्रार्थ बोध होना जरूरी है कर्म को लेकर है वो मालूम ही नहीं हमने क्या क्या डाल दिया है और हम क्या रह गए हैं अभी जब आसमें तो आता अहंकार डाल दिया मान बुद्धि सब कुछ डाल देते कुछ नहीं छोड़ते सारे चीज को स्वाह करते और लोग क्या गया ब्रह्म जलाए इतनी परिच्छेद है सर्व परिच्छेद को स्वाहा कर देते हैं इस न्यास में दूसरे जो है जहाँ विशेषण दिया जाता है स्वरूप को तपा आयुष्वेव तस्मा असत्य आयतम विधि कल्पित है इसलिए सत्यम आयतम कहा गया तथा विश्वेव प्रतिष्ठा का प्राप्त से सत्य से पुनः आयतन ग्रहण सावना विशेषनाथ तथा दमा करने से सत्य भी उसी में आ ही गए सब संपत्ति सारे गृहित हुई है तो सत्य भी गृहित हो गया फिर अलग से क्यों ग्रहण लिया तदेन तपादिशेव प्रतिष्ठात्म प्राप्त से से तपादी शब्दों के द्वारा ही प्रतिष्ठा रूपेण प्राप्त था सत्य फिर भी पुनः उसी को ही पुनः आयुर्वृत्त ग्रहण साधनातिशय ज्ञान ग्रहण क्या द्वारा